अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी ज़ात से एक मिसाल बयान की है क्या तुम्हारे गुलामों में से कोई उस रिज्क में तुम्हारे शरीक हैं जो हमने तुम्हें दे रखा है कि तुम उसमें बराबर हो तुम एक दूसरे से डरने की तरह उनसे भी डरते हो इसी तरह हम आयात खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं